ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने फिटकार डाल रखी है और जिस पर अल्लाह फिटकार डाल दे उसके लिए तुम कोई मददगार नहीं पाओगे